यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है जो अपने रास्ते से भटक गया है और उन लोगों को भी खूब जानता है जिन्होंने सीधी राह पाली है